प्रबंधेन प्रबंधेन व्यक्ता व्यक्तोरवै धर्म्यम उक्तम व्यक्त का धर्म क्या है परिस्पंद होना व्यक्त का धर्म क्या है अनेक व्यक्त का धर्म है आश्रित व्यक्त का धर्म है लिंग व्यक्त का धर्म सवयव परतंत्र और अव्यक्त का क्या है तदविपरीत माने अहे तुमत नेत व्यापी निष्क्रिय अनाश्रित एक अलिंगम अनवयम स्वतंत्रम ये दोनों के बता दिया अनेना मन न ग्रंथे न अनेन मन न मन न ग्रंथेन व्यक्ताव्यक्तोर वैधर्म्यम व्यक्त और अव्यक्त का जो वैधर्म था वो हमने कह दिया उक्तम इस समय पर तीनों का बताने जा रहे हैं व्यक्ताव्यक्तोर मिथा साधर्म्यम पुरुषाचा तयोर वही धर्म अब दो चीजें कहने जा रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त की समान धर्म बताने जा रहे हैं अब पुरुष और व्यक्त और अव्यक्त के वही धर्म बताने जा रहे हैं इस कारिका से तीन चीजें निकलने वाली हैं कि व्यक्त और अव्यक्त समान है और पुरुष इनसे भिन्न है पहले वाली कारिका में क्या था व्यक्त और अव्यक्त के बारे में साफ साफ बताया अब बताना चाह रहा है कि व्यक्त और अव्यक्त में समानता है और पुरुष में भिन्नता है वही कहना तदन प्रबंधेन व्यक्ता व्यक्तोर वैधर्म्यम उक्तम माने कथितम संप्रति माने इदानी तयोर साधर्म्यम तयो माने व्यक्ता व्यक्तो साधर्म्यम समाना धर्मा ये शांति सधर्माना और तैसाम भावा साधर्म्यम कौन सा लगा धर्मा धनिज केवला कहा सधर्म आना वही कहने जा रहे हैं यहाँ ठीक है वही तयूर साधर्म्यम पुरुषाचा वैधर्म्यम अपुरुष के अपेक्षा वैधर्म है आहा त्रिगुणम इत्यादि ना कारिकया उन इत्यादि कारिका के द्वारा कहना चाह रहे हैं त्रिगुणम अविवेक विषया सामान्य चेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा चा पुमान यज्ञ ग्यारहवा श्लोक जो आया आर्य छंद में लिखा हुआ इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्त और अव्यक्त के साथ धर्मों को और व्यक्त और अव्यक्त के साथ पुरुष के वैधर्म का पहला नंबर एक में कहा त्रिगुणम तो किसी ने कहा त्रिगुणम का मान तीन गुण वाला त्रयाणाम गुणानाम समाहारा इति त्रिगुणम ये त्रिगुण शब्द का अर्थ है तो जो तीन गुण हैं तो तीन जो गुण है तो इनका कहना तीन गुण से तीन गुण नहीं लेना है अभी तो क्या लेना है तीन गुण के जो कार्य है कौन सा कार्य है उनका तो सुख दुख मोह लेना है क्योंकि जो प्रकृति है वह तीन गुण वाली ही है तीन गुणात्मिका है उसका वो धर्म नहीं है तद आत्मिका ही है तो त्रिगुणत्व जो है वह तद रूप है न कि तद धर्मवती है प्रकृति इसीलिए उनको कहना पड़ रहा है कि त्रया गुणा से क्या अर्थ किया गुणा सुख दुख मोहा माने यहाँ से गुण पद से सत्वरजतमान से नहीं लेना है क्योंकि सत्वरजतमान से लेंगी तो यह जो त्रिगुण है वह त्रिगुण का आधार व्यक्त तो हो सकता है अव्यक्त नहीं होगा क्योंकि वह जो अव्यक्त त्रिगुणात्मक ही है अव्यक्त क्या तीनों गुणों की साम्य अवस्था का ही नाम तो प्रकृति है तो तदात्मक की तद का आधार है तदात्मक है इसलिए त्रिगुण आधार भूतम व्यक्तम अव्यक्तम नहीं संभव हो पाएगा इसलिए उनका कहना पड़ रहा है कि यहाँ त्रिगुणात्मक से क्या लेना है सत्व रज तम न लेकर के त्रिगुण से लेना सुख दुख मोहा ये किसका अर्थ है त्रयो गुणा सुख दुख मोहा कौन सा समाज करना चाह रहा है आस्य माने त्रया गुणा इति त्रिगुणा ते अस्य संति इति त्रिगुणम ऐसा करके कहना चाह रहा है बहुरी एक तरह त्रिगुणम व्यक्तम त्रया गुणा यस्य गुणा मन सुख दुख मोहा यस्य कस्य व्यक्त है और प्रधान से दोनों में हो गए तो तत्र गुणम और तीन गुण वाला इसीलिए का त्रया गुणा सुख दुख मोहा अस्य इति त्रिगुणम व्यक्तस्य अव्यक्तस्य क्यों इनका लेखना सत्वादी नाम तद रूपत्वाद जो सत्रयतम है वह प्रकृति के धर्म नहीं है क्यों तदरूपत्वाद धर्माधर्म में तो भेद होना चाहिए ना इसीलिए जो सत्रयतमांसी है वह क्या नहीं है प्रकृति का धर्म नहीं क्यों तदरूपत्वाद अतः गुण शब्द से क्या लेना यहाँ पर सुख दुख और मोह अब देखिए यह सुख दुख मोह कहाँ रहते हैं इनके यहाँ हम्म, हम्म, कहाँ कहने जा रहे त्रिगुण कौन है दोनों आदमी बताए तीनों आदमी त्रिगुणम व्यक्तम अव्यक्तम त्रिगुणम कौन हुआ व्यक्तम और अव्यक्तम ये समान है ना पुरुष से भिन्न है ये ये पुरुष का भाई धर्म है पुरुष त्रिगुण नहीं है त्रिगुण माने सुख दुख मोह का आश्रय नहीं है और न्याय में सुखाश्रय आत्मा दुखाश्रय मोहाश्रय तब आत्मा कौन है और इनके यहाँ सुख दुख मोह किस में रहते हैं व्यक्त और अव्यक्त में किस में नहीं रहते हैं पुरुष में नहीं रहते वही लिखने जा आगे कार्य का आगे पंक्ति लिख रहा है अने जब हमने क्या कह दिया कि यह सुख दुख जो मोआ है यह किसकी धर्म है व्यक्त और अव्यक्त के हैं अनेना सुखादी नाम सुख मोह जितने सुख दुख इच्छा देश पर धर्मा धर्म जितने भी सब हैं सुखादीना आत्मगुणत्व पराभिमतम अपाकृतम मान निरस्तम अपाकृत का अर्थ क्या होता है निरस्तम निराकृतम निराकृत हो गया क्योंकि नैयायिक के यहाँ सुख दुख आत्मा में रहते हैं हाँ। और इनके यहाँ रहते हैं व्यक्त और अव्यक्त में हाँ, तो मतलब आत्मा में नहीं रहते हैं अरे गुरु जी उनके यहाँ रहते हैं इनके यहाँ नहीं रहते तो इसका हुआ कि हमारे मत से उनके आत्मा में नहीं रहेंगे उनका मत गलत है जो कहना चाह रहे हैं अब इनका उनके मत में इनका गलत कैसे है बता दो तुम तो आत्मा से नहीं होती सभी लोग अंतःकरण में होती है हाँ, हाँ तुम भी पढ़ के सब कुछ पढ़ लिए अंतकर्मण आत्मा होता है मतलब आत्मा नहीं है आत्मा नहीं होता है का मन आत्म गुणत्व पराभिमतम पराभिमतम नैयायिकाभिमतम किम अपाकृतम निरस्तम मैंने खंडित कर दिया वो लोग तो दुख तीन सुखा सुखा अधिकरण तीन आत्मा सिद्धि करते हैं ना इसलिए अने सुखादि आत्मा के गुण नहीं है गीता में यह ना भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को द्वितीय अध्याय में मनोगतान कामान अरे तब कुछ नहीं पड़े तो हम क्या कर चल अदलक समाप्त हो गया कामान मनोस्थितान क्या लेगा मनोगतान तो मनोगतान मतलब मन में वृत्ति सब कामना ये सब हाँ तो गलत तो- सांख अर्हत वैशेषिक ही बौद्धिश्य सांख भी नहीं समझता है क्योंकि ये अनेक मानता जीव को ना अब बौद्ध है वो भी परित्यक्त कर दिया और अर्हत माने जैन अब वैशेषिक माने न्याय ये औपनिषद दर्शन को नहीं समझ पाए दोनों एक ही है दोनों भाई भाई है अन सुखादी नाम आत्मगुणत्व पराभिमतम अपाकृतम मन खंडितम न तदस्वी पृथिव्याम वा दिव्य देवेश वा पुनः आगे सत्यम प्रकृत जयीर मुक्तम तो कहाँ क्या लिखा सत्यम प्रकृत जय रही एक आना वही कहना मना सत्यम प्रकृत जयीर युक्तम यदि भी सत्र फिर गुण यह भी यदि हाँ तो गुणात्मक यदि आत्मा का मानोगे यह भी क्या हो जाएगा सूत्र से भी गड़बड़ जाएगा इसलिए क्या कहना है त्रिगुणात्मक प्रकृति है चलिए अविवेकी नंबर क्या है हमारा अविवेकी अविवेकी का मतलब क्या है यथा प्रधानम स्वतो न विवच्यते विवेकी माने पृथक पृथक करना विवेक का मतलब क्या हुआ विचेर पृथक भावे कौन धातु है विचेर क्या बनेगा एक वचन होगा विवेक्ति कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ है कौन कण का धोत्यादि का है जो होती बनता है तो विवेक्ति बनेगा ना एक वचन में विवेक विवेकता गुण करने वाला कोई है हाँ वही तो कोई आए गुण पढ़ने वाले आएगा तब ना करेगा ये तो होगा ना जो होते आदि जो होती बनता चलिए वही बनाते हैं विवेक चलिए अब यहाँ पर कहने जा रहे हैं अविवेकी माने विचेर पृथक भाव और न पृथक भाव अविवेक माने जहाँ पृथक भाव वही लिखने जा रहा है यथा प्रधानम स्वतु न विविच्य से मैंने प्रधान अपने आप अपना ज्ञान नहीं कर पाता कि मैं अलग हूँ एवं महादादयोपि न प्रधानात विवच्छनते और महादादी प्रधान से अलग अपना सत्व नहीं दिखा सकते हाँ वही उसी से गुण होता है उसी से स्लो गुणा का त्रयाणाम गुण ठीक ठीक ने नेप्ति ने नेप्ति वहीं आया निजर शौचे उसी में सूत्र दिया है निजाम त्रयाणाम स्लो गुणा हो वही कहना अभिवेकी यथा प्रधानम ना स्वता विविच्यते माने यथा प्रधानम स्वतः न विवच्यते माने प्रधान अपने आप पृथक भाव को नहीं प्राप्त होता माने प्रधान अभिन्नम मन अविवेकी मतलब प्रधान अपने को अभिन्नता कहता अपने को अलग नहीं कर पाता है मन विवेका पृथक भवनम नयस्य विद्यते तद विवेकी मन प्रधाना भिन्नम अनुज का जो अविवेक जो अज्ञान और प्रधान से अभिन्न ही है अलग नहीं है यथा प्रधानम तथा यथा प्रधान स्वतः प्रधानात प्रधानम न विवक्षित अर्थ कर लीजिए जिसे प्रधान प्रधान से विभक्त नहीं होता है उसी प्रकार क्योंकि स्व में स्व का भेद का ज्ञान नहीं होता है सामान्य नियम है उसी प्रकार महादादि भी प्रधानात अभिन्न होने से क्योंकि तदात्मक है वो कारण कार्य कारणात्मक है इसलिए यह जो कार्य अपना महादादि वो प्रधान से अलग नहीं हो सकते वही लिखने जाए न स्वतः एवं महादादयोपी न प्रधानादिवंचित क्यों सदात्मक कार्य कारण और अभेदाभ्युपगमात कार्य कारण का भेद अलग से नहीं प्रति परंतु पुरुष क्या है विवेकी है ये, दो, ये दोनों क्या है अविवेकी है पुरुष क्या है अत्रिगुणात्मक है अव्यक्त अव्यक्त त्रिगुणात्मक इस आधार में इनका है अथवा दूसरा अर्थ करने जा रहे हैं एक अर्थ कौन हो गया बता दिया दूसरा अर्थ करने जा रहे हैं क्या अथवा संभूत कारिता अत्रा विवेक अविवेक क्या मन संभूत संभूय कारिता मिलकर काम करना जैसे दंड चक कुलाल मिलकर क्या करते हैं घट को अभिव्यक्त करते हैं उसी प्रकार ये शंभु ये मिलित्वा अतः मन ये सब मिल गए हैं मन स्वाकार्य आत्मकार्य जननीय नाप एक एक पर्याप्त नहीं सब मिल के काम करते हैं क्या करते हैं इसको बोलते हैं संभूय कारिता संभूय माने मिलित्वा समुसर पूर्व भू धातु से अक्सर लेप होकर क्यों ना है संभूय संभूय माने मिलित्वा मैंने संभूय मिलित्वा किम कुरवंती कार्यम कुरवंती मने मैंने यथा एकम किंचित तत्व स्वकारी आत्मकारी जननीय न पर्याप्तम एक कार्य एक कार्य करने में समर्थ नहीं है अपितु मिलकर करते हैं ऐसे तीनों गुण मिलकर के करते हैं आगे वाला मादा भी मिलकर करेगा इसी का नाम मिल जाने का नाम हो गया अविवेक अलग अलग कोई मैंने किया कि तुमने किया कि हमने किया तो कह सकता है यदि तो किसी ने चार आदमी ने भोजन बनाया तुमने बनाया अकेले भोजन तो तुरंत कहेगा नहीं तुमने बनाया है तो कहेगा नहीं कहेगा आप डांट कहेगा तुम अकेले बनाए पूरा भोजन तो क्या कहोगे तू तो उत्तर ना ना ना ना ना ना अकेले नहीं बनाए बनाया तो हम भी कह रहे हैं पर क्या कहो अकेले वही तो ये भी कह रहे हैं बेचारे मिलकर हमने बनाया बनाया तो एक एक है परंतु तो क्या कहेंगे मिल के बनाए वही कहने वही कहने जा रहा संभुई कारिता इसको बोलते हैं मन संभुई कारिता का नाम ही है यहाँ पर क्या है अत्र अविवेकितम इस कारिका में अविवेक पद से क्या लेना सबको मिलकर के कार्य करना यह एक अर्थ हुआ अत्र कारिका में क्या है अविवेक का वो एक पहला अर्थ कर दिया दूसरा अर्थ क्या संभू कार्य अथवा संभू कारितात्र अविवेक अविवेक माने मिलकर काम करना नहीं किंचित एकम पर्याप्तम स्वकार्य इति संभूय माने एक कोई व्यक्ति एक कार्य अपने कार्य करने में पर्याप्त समर्थ नहीं है अतः संभूय इसलिए मिलकर काम करे तत्र न एक अस्मात सचित चित्त संभव माने एक किसी से किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है अतः इसलिए संभूय करते हैं संभूय कारिता का नाम ही क्या है अविवेक एतवाहु अब ये बताने जा रहा है बौद्ध मत के बारे में कुछ बताने जा रहा है आगे बताने जा रहा है ईतवाहु विज्ञान में हर्ष विषाद मो शब्दाध्याकार जितना या विज्ञान क्षणिक विज्ञान तो एक विज्ञान है तो विज्ञान में भी दो हैं एक होता है सौगत के मत में जितना है वो स्वप्न स्थानीय है बाहर कुछ नहीं सब अंदर ही है एक मत क्या है सब कुछ क्या अंदर है वही सब यहाँ प्रतीत हो रहा बाहर कुछ नहीं है माने बाह आकार शून्य अंदर सब कुछ है एक है की बाहर अनुमेय है और अंदर है ये थोड़ा अंतर दो है हाँ एक का मत मतलब क्या है बाहे अनुमेय और अंदर वाला है एक का कि बाह भी मिथ्या ही पूरा का पूरा उसी पर ये कहने जा रहे हैं कि जितना ये हर्ष विधान मोह आत्मक जितना ये क्या है सब उस विज्ञान का है न पुनर इतो अन्य धर्म अरे विज्ञान ही है सब उसका सुख दुख मोह ये क्या जो विज्ञान पर्वत यही है इसमें कोई सुख दुख मोह आत्मा कोई इसमें धर्म नहीं है तो इसका मतलब वो विज्ञान क्या है त्रिगुणात्मक है वही विज्ञान क्या है हमारा अभिवेकी है इसलिए उसको पास करने के लिए इन्होंने तीसरा कोटि क्या दिया त्रिगुणम अभिवेकी विषया क्योंकि ज्ञान और विषय में भेद होता है घट का विषय घटक ज्ञान अलग घटक और विषय अलग इसके मत को खंडन करने के लिए उन्होंने कहा विषया नव ज्ञानम अपितु ज्ञान से विषया वो ज्ञानात्मक नहीं है परंतु ज्ञान का विषय है मैंने हर दसों के विषाद जितना है सब विज्ञान के धर्म विज्ञानात्मक है उसको खंडन करने के लिए उन्होंने लिखा किम तान प्रत्याह विषया विषयाग्राहिया विज्ञानाद बहिर्तियावत यह जो विषय है वह विज्ञान से अतिरिक्त है अतएव आगे क्या लिखा है सामान्यम सामान्य का मतलब हुआ कि अनेक पुरुष ही गृहीतम अनेक पुरुषों ने एक वस्तु को गृहित किया आपने इस गिलास को देखा इन्होंने भी देखा यही गिलास इनकी इच्छा हो गई तो लेकर चल दे मोह हो गया नहीं कहते एक एक स्त्री कश्चन तत्र मोहियती कश्चन दुष्यती कश्चन ऐसे के श्लोक बताते हैं मैंने एक ही स्त्री में तीनों गुणों का आकर्षण किसी के प्रति किसी को दुख देने वाली है किसी को सुख देने वाली किसी को मोह देने वाली तो है उसी प्रकार एक व्यक्ति अनेक पुरुषों के द्वारा गृहित है और इसलिए क्या है सामान्य माने साधारण है यदि विज्ञान होता तो सबका विज्ञान अलग अलग है तो सामान्य नहीं होता सबका तो विज्ञान क्या है आपका ज्ञान अलग इनका ज्ञान अलग हमारा ज्ञान अलग है उसका आधारण नहीं हो सकता क्या हो सकता विशेष हो सकता है इसलिए उन्होंने कहा अतएव सामान्यम इसलिए हेतु जो यत विषय विज्ञानाद बही अतएव सामान्यम साधारणम अनेक ही गृहीता अनेक लोगों से गृहित किया गया है क्यों यदि वा विज्ञान वही अतः विज्ञानाद भिन्नम माने जो घटपट आदि जो है विज्ञान से भिन्न है इसलिए पुरुष के भेद होने पर भी वो अभिन्न रूप से प्रतीत होते हैं अन्यथा विज्ञान सबका भिन्न भिन्न था तो अभिन्न रूप से प्रतीत नहीं होते जबकि बहुत से विज्ञानों का आलम्बन वो करते हैं आश्रय विषयता संबंध से फिर भी क्या रहते हैं वो सब एक ही रहते हैं मैंने अनेक पुरुषों के द्वारा गीत जो बहु विज्ञान उसका आलम्बन मन विषयी भूत जो दी हैं वो सब एक जैसे रहते अलग अलग नहीं होते ये वो घटान है विज्ञान कार कार्य यदि विज्ञानात्मक मानोगे विषय को तो असाधारण तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएंगे असाधारण हो जाने से क्यों विज्ञान नाम वृत्ति रूपाण देखो या याद करो सब पंक्ति विज्ञान माने जो ज्ञान है वृत्तियात्मक है वृत्ति रूप वेदांत में भी ज्ञान दो प्रकार का होता है वृत्तियात्मक स्वरूप भूत तो जो वृत्त्यात्मक ज्ञान वह उत्पन्न और नष्ट होता है उसी बात को यहाँ कहने जा रहे हैं कि जितना यह हमारा है मन कुंभादि विज्ञानाद भिन्नम ग्राह्यवाद प्रदीप अनुमान करते हैं जो कुंभादि जो घटपट आदि है वह विज्ञान से भिन्न है क्योंकि विज्ञान से ग्राह्य है अतः ग्राह्य और ग्राहक में क्या होता है भेद होता है प्रकाश से पट आदि में प्रकाश और प्रकाश में भेद है अनुमान को ही कहने जा रहा है यदि अभेद मानोगे उस स्थिति में कहने जा रहे हैं यदि ज्ञानों का भेद मानोगे विज्ञान आकारक मानोगे तो क्या कहने जा रहे हैं असाधारण माने अभेदात उनमें समय असाधारण हो जाएंगे क्या हो जाएगा असाधारण हो जाने से विज्ञानानाम वृत्य रूपाणाम विषय जब असाधारण होगा तो उनका ज्ञान भी क्या हो जाएगा असाधारण हर विषय के लिए अलग अलग विज्ञान होगा मान हर पुरुष के लिए बुद्ध वृत्ति रूप जो विज्ञान है प्रति पुरुष के भिन्न है तो घट भी प्रति पुरुष के लिए क्या हो जाएगा ये विज्ञानात्मक है जब हर व्यक्ति की जो बुद्धि वृत्तियां भिन्न भिन्न है तो उनकी दृष्टि में घट भी क्या होगा वही कहने जा रहा है असाधारण्याद विज्ञानानाम मनोवृत्त मनोवृत्ति रूपाणाम बुद्धि रूपाणाम ते असाधारणा स्यू सेवि में घटपटादि विषया आप किम स्यू असाधारणा स्यू क्यों घटाने चाहिए यथा विज्ञानम यथा प्रण यथे आपका विज्ञान हम नहीं देख सकते हैं तो विज्ञानात्मक जो घट है आप वाला वो हम भी नहीं देख सकते आपके विज्ञान को हम नहीं देख सकते तो आपके विज्ञान का विषय जो घट विज्ञानात्मक है उसको हम देखेंगे तो इसलिए हमारे लिए हमारा विज्ञान आत्मा घट भिन्न है हमारा विज्ञान भिन्न है इसलिए नाना घट नाना विज्ञान वही कहने जा रहा विज्ञानम यथा परिण न गृहते मैंने परस्य विज्ञानम परिण न गृहते पर बुद्धि ही अप्रत्यक्ष पर बुद्धि का प्रत्यक्ष नहीं होता तदवत यहाँ पर चैत्री जो विज्ञान है मैत्र नहीं गिन सकता मैत्र का विज्ञान चैत्र नहीं गिर सकता तस्मात यह विज्ञान से भिन्न अर्थ मानो नहीं हर विज्ञान के लिए घटपटादि को अलग अलग मानना पड़ेगा यथा एक दृष्टान देने जा रहे हैं यथा नर्त की भूलता भंग एक बहूनाम प्रतिसंधानम युक्तम जैसे नर्तकी जो नृत्य करती है वा भ्रू रूप भंगोत्तरम तदृष्टि न हाँ नीचे इसमें भी दिया क्यों घबराए हो तुम्हारा जो पुस्तक है यही का नकल है अब अयम भाव से बताए ये प्राचीन देख लो सन मिला लो चलो भ्रू रूप भ्रू रूप भंगोत्तरम तद नाम भरत मत परिचिता नाम ये लिखा ना नहीं हमारे में लिखा है वो अलग हो गया भाई आगे आने वाला है तो राजसभा लगा दिया उसने वही भरत मत परचिता नाम चैत्रादी नाम इनका कहना कोई नर्तक नृत्य करती है जो भरत मत मतलब भरत नाट्य शास्त्र को जो ज्ञाता है वो उसके भू विलास से बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाहती है हर आदमी नहीं बता सकता ना जैसे जो वाद्य शास्त्र के ज्ञाता हैं वो बाजेगा वो बैठा रहेगा आप कितना भी बजाइए यदि वो जानकार होगा तो जब तक सही नहीं जब तक हाँ वो कुछ नहीं करेगा कारेगा ही नहीं जब पूरा बज जाता है इसलिए जो बड़े बड़े जो नए कलाकार अपने बड़े के सामने जब बजाते हैं बड़े सावधानी से बजाते हैं यदि बड़ा कह दे कि अच्छा है तब तो ठीक है और आप कितना जनता ताली बजाएं वो संतुष्ट नहीं होती क्योंकि जानकारी नहीं जनता तो हम लोग क्या जाने तो हमारी पढ़ाई करें तो कुछ पढ़ाई होने वाली है इसे यहाँ कोई साज साज कर रहा हो जनता बैठे जो चिल्लाएगा वो सोचेगा यही बड़वा पंडित है वो गलत चिल्ला रहा है कि सही चिल्ला रहा है और जो बैठे हो वो समझेंगे ना जो पढ़े लिखे कि तुम क्या सही कह रहे हो गलत गच्छत कह रहे हो कि पटत कह रहे हो गच्छत की साथ में वो तो सोचेंगे बहुत अच्छा बोल रहा है चिल्ला रहा है तो उनके प्रामाणिकता से प्रामाणिक नहीं कहलाएगा जब वहाँ के विद्वान लोग कहेंगे बहुत अच्छा ये बोला है तब लोग जनता लोग कह रहे हम लोग तो उसको समझ रहे थे और ये तो यही अच्छा बोला है वही बात है तो राज्यसभा मान लो कहीं बैठे नर्तक हैं इसलिए कहा भरत मत परिचिता नाम जो भरत मत मतलब भरत नाट्य शास्त्र के जो ज्ञाता हैं चैत्रादी नाम दृष्टा त्वया मैत्र नर्तक भूभंगा वो कहता जो तुमने देखा वही मैंने देखा क्योंकि अब दोनों जानते चीज को अतः परस्पर ने एक चीज का ही अनुभव करते एक काल में एक ही चीज का अनुभव करते यदि विज्ञान होता तो अनुभव कर पाते नहीं वही कर था नर्त की भू भंग एक अस्मिन बहूना एक नर्तकी का भ्रूभंग है उसमें नाम मन भरत नाट शास्त्र ज्ञात्री नाम प्रतिसंधानम ज्ञानम युक्तम एक जैसा सबको ज्ञान होता है जो उस शास्त्र के ज्ञाता है इसने सही कहा अन्यथा ज्ञात यदि क्षण विज्ञानवात्मक मानोगे तो चैत्र के द्वारा गीत जो स्वप्न है स्वप्न किधर संसार मानोगे तो चैत्र गीत का जो स्वप्न तो मैत्र जानता है मैत्र के द्वारा गीत जो स्वप्न का है वो चैत्र नहीं जानता तो जो चैत्र जिस उस नर्तक की भ्रूभंग को देखेगा तो मैत्र नहीं समझेगा और मैत्र देखेगा तो चैत्र वाले को नहीं समझ जबकि इन तीनों का अनुसंधान एक है तीनों जब परस्पर वार्ता करते हैं तो एक ही उनका उत्तर मिलता है तस्मात विज्ञानाद अतिरिक्तम किम वर्तते विषया अतएव सामान्यम अब आया तीसरे नंबर में दो हो गए ना पहला का ना त्रिगुणम फिर अविवेकी विषया सामान्यम अचेतनम अब बताने जा रहा है कि इनके यहाँ चेतन तो है क्षणिक विज्ञान है किनके यहाँ बौद्धों के यहाँ शाश्वत चैतन्यता नहीं है वही और के यहाँ क्षणिक उनके यहाँ आया कि द्वितीय क्षण में नष्ट होने का नाम क्षणिक के यहाँ तृतीय क्षण में ये सब परिभाषिक शब्द है क्षण क्षण में बरतना मतलब अरे क्षणिक माने विनाश से क्षणिक माने जो विनाशी न हो अतः अचेतनम सर्व एव प्रधान गया अचेतना उन्होंने कहा जितना भी है प्रधान से लगा करके बुद्धि तन मात्राएं ये सब के शब्द क्या है अचेतन है और परमात्मा इनके यहाँ पुरुष क्या है चेतन है न तो वैनाशिक चैतन्यम बुद्धे है वैनाशिक बोलते हैं बौद्ध को तो उनकी तरह उनका बुद्धि मान जो विज्ञान है वो चेतन क्षणिक विज्ञान है मान जैसे ज्योति चलती रहती है लगती वही ज्योति बदलती रहती है क्या होती रहती है हो परंतु है वो चैतन्य जड़ नहीं है विज्ञान विज्ञान का जड़ न्याय में ज्ञान जड़ है ये गुण है जड़ ही होता है यहाँ पर भी क्या इनका बुद्धियादि आदि उसका धर्म जो बुद्धिवृत्ति हुई क्या है जड़ है इसलिए कहा था पुरुष प्रतिबिंबितम आया था कहीं पर इसलिए पुरुष प्रतिबिंबित तब उसमें आता नहीं तो बुद्धि भी क्या है जन है मतलब हाँ पुरुष है मतलब हाँ चित्त दया प्रवृत्या वही वाला ईश्वर को मानते हैं ईश्वर नहीं पुरुष हाँ वेद वेद है ना है ना वेद पूरा पढ़ा अधिकारी का कभी न कहा चेतन जो धर्म में दिया जब करो तो हाँ वही अव्यक्त सृष्टि रचना करती है तो अचेतन होने के कारण वो पूर्व का जब प्रतिबिंब पड़ेगा सब करना शुरू कर देगी अभी आने वाला है ना पंगु बज्रवत होने वाले हैं ना सब अचेतनम सर्वेव प्रधान बुद्धादयो अचेतना न तू वैनाशिक चैतन्य बुद्धे है जो बुद्धि है वह वैनाशिक के तरह क्या नहीं है चेतन नहीं है मैंने मतलब क्षणिक विज्ञान वाला जो बुद्धि चेतन हो तीसरा कहने और देने जा रहा है प्रसव धर्मी प्रसव रूपो धर्मो यश प्रसव माने पैदाइश प्रसव माने क्या होता है मैंने पैदा परिणाम तो प्रकृति भी क्या करती है पैदा करती है ये भी करते हैं वही अन्य वही कहना प्रसवा अन्य आविर्भाव हेतुत्व रूपा परिणाम प्रसव क्या चीज है अन्य वस्तु का जो आविर्भाव कराना यही परिणाम है सैव धर्म इति प्रसव धर्म पहले प्रसवश्चासु धर्म प्रसव धर्म फिर प्रसव धर्म अस्ति प्रसव धर्मी यहाँ यद्यपि यह कह सकते विग्रह प्रसव रूपो धर्म ऐस बहुरी कर देते नाम तुर्थियात बहुरी चेत तदर्थ प्रतिपत्ति कारा मैंने कर्म धारे पद वृत्ति द्वय का उपलक्षक है एक वृत्ति से काम चल जाए तो दो वृत्ति नहीं करना चाहिए तो यहाँ दो वृत्ति की कौन कौन पहले कर्मधार है प्रसव धर्मा प्रसय धर्मा और हाँ, फिर प्रसय धर्मा अस्ती प्रसय धर्मी इन प्रत्यय नपुंसक में प्रसव धर्मी दंडी की तरह होना क्या चाहिए था प्रसव धर्मो यस्य इसी प्रसव धर्म अथवा प्रसव धर्म बनेगा तो नपुंसक प्रसव धर्म क्या बनेगा नपुंसकलिंग प्रसव धर्म धर्माधनित केवलात हो जाएगा और पुण्य में प्रसव धर्मा नपुंसक प्रसव धर्म प्रसव धर्मणी प्रसव धर्माणी यही चलेगा ना ये कहना चाह रहा है तो बौरी कर देना चाहिए था तो कहा है न कर्म याद मत्तुर थी बौरी चेत सब प्रतिपत्ति करा ये न्याय अनित्य है इसीलिए लोग कहते हैं कि जिसने लिखा जाता है हमारे आश्रम में जाएंगे तो करपात्र धाम लिखा है कहे करपात्री शब्द नहीं बनेगा क्यों कर एव पात्र करपात्र बनाएंगे कर्मधार है फिर करपात्र आस्ते अस्ती थी करपात्री इन करेंगे तो कई वृत्ति करनी पड़ रही है दो वृत्ति करनी पड़ रही है इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग को सलाह दिए तो सब लिखा है करपात्र धाम क्या लिखा है परंतु ये तो न्याय अनित्य है तो लिख सकते हैं हम लोग करपात्री धाम लिख सकते हैं मगर पता नहीं कौन लिखवाया हाँ उसमें भी यही है दो नहीं करना चाहिए वही कहने जा रहा है अतः यहाँ पर तो कहे यहाँ पर दो वृत्ति क्यों की क्योंकि जो होता है तो दो वृत्ति इसलिए किया नित्य योग बताने के लिए यदि बहुवरी ही करते मतु पर्थ में इन प्रत्यय नहीं करते थे तो कह नित्य युग इनका नित्य हमेशा प्रसव धर्म परिणामित तो होते रहते हैं सत्वरज हमेशा क्या होते हैं गुणवृत्तम चलम हमेशा चलते परिणमित तो होते ही रहते हैं वही कहने के लिए बताया गया है अतः प्रसव धर्मो अस्यास्ती प्रसव धर्मी प्रसव धर्मा इति वक्तव्य देख लिखा ना प्रसव धर्म इति वक्तव्य मैंने वो कर अनित करके लिख दिया क्वेश्चन में प्रसव धर्म इति वक्तव्य मत्वर्थी प्रसव धर्म से नित्य योग समाख्या तुम मैंने हमेशा उसमें प्रसव धर्म रहता है सोम निंदा श्याम भवंती मतपादयत यहाँ कौन से लेना है नित्य योग हमेशा ये चलता रहता इस भाव को बताने के लिए तो वहाँ लिखा है न कर्म धारयान मतवृथीय चेत अच्छे यदि वह अर्ध बहुरी से निकले तब नहीं करना है वो अर्ध बहुरी से नहीं निकल रहा है इसलिए करना है न कर्म धारयात मत्वर्थी यश और यश से तदर्थ प्रतिपत्ति करा उपरी से अर्थ नहीं निकल पा रहा था नित्य योग इसलिए इनको क्या करना पड़ा कर्म धारय के बाद बहुवरी जी न करके मत प्रत कह नित्य योग करने की स्वरूप विरूपा परिणाम तो लेकिन स्वरूप विरूप परिणामाभ्याम न कदाचदपि विद्यते कभी स्वरूप परिणाम हो तो कभी विरूप नहीं निकल सकता हाँ तो वो, कौन से समाज तो तत्गुण तत्गुण क्योंकि वहाँ यहाँ अंतर अंतर जैसे वो तो हमेशा भगवान के त्रिनेत्र साथ में रहते हैं यहाँ तात्पर्य की कदाचित ये रुक ना जाए प्रसव धर्म में पैदा परिणाम होता ही रहे यह किसी को भ्रम ना हो जाए भ्रम निवृत्त है जैसे वहाँ लंबो लंबा उदरम यस्य लंबोदर और लंबा उधर काट के फेंक दिया नाम पड़कर तो लंबोदर कहेगा राधे राधे हो गया चलिए <laughs> हमारे संदेह अपना लग गया नहीं लगी पंक्ति सब कुछ है ही नहीं लोग हमारा वही नाम रख दी इमरजेंसी चलो वही कहना है चलो आप प्रत्यक्ष दृष्टा दे दो क्या दिक्कत है लाइट जलाओ हम्म। नित्य योगम आख्या तुम स्वरूप विरूप भ्रमण कभी स्वरूप परिणाम होता रहता उसमें और कभी क्योंकि उनका गुणों का स्वभाव है चलते ही रहना और जब साम्यावस्था में वो चलते रहेंगे स्वरूप परिणाम करेंगे और जब सृष्टि करेंगे तो विरूप परिणाम का अंतर यही है इसलिए स्वरूप विरूप परिणाम ना कदा भी वियुजते अलग नहीं होते सदा इनका योग ही बना रहता है इसलिए क्या हो गए धर्मी उसके बाद क्या आया मैंने सब किसके धर्म है व्यक्त और अव्यक्त वही लिखने व्यक्ता व्यक्त वृत्तम अति मन ये सब रहते हैं व्यक्त में और किसमें जिसका अति अतिदिशति तथा प्रधान जैसे व्यक्त में ये सब धर्म है उसी प्रकार प्रधान में है यथा व्यक्तम तथा अव्यक्तम इत्यर्थ जैसे हमारा व्यक्त में क्या है त्रिगुणात्मक है अविवेकी है विषय है सामान्य है अचेतन है प्रसव धर्मी है उसी प्रकार अव्यक्त भी है परंतु पुरुष इनसे अलग है अर्थात अत्रुगुणा है अविवेकी है अविषय है असाधारण है चेतन है और धर्मी है वही कहने जा रहे हैं ताभ्याम वैधर्म्यम पुरुष इनका साधर्म है का ताभ्याम में तद विपरीता पुमान इति तद पीछे क्या आया था ही तुमद अनित्यम अव्यापी एकम अनेकम तो बताओ प्रधान एक या अनेक एक प्रधान को एक बनाया और उसको क्या बनाया अनेकम पुरुष क्या है अनेक है इनके यहाँ तो व्यक्त का पुरुष का किंचित का आधार मिल रहा है यथा व्यक्तम अनेकम पुरुष अपनी अनेकम और घटारा भी घटारा दोनों किंचित साधन मिला रहा है दोनों में अहेतु मत तो किसमें है अहेतु मत कौन था वहाँ प्रकृति थी ये भी अहेतु मत है प्रकृति भी नित्य है ये भी नित्य है सब प्रकृति का कुछ साधारण मिल रहा है अहेतु मत्व और नित्य और उसका क्या मिल रहा है अनेकत्व व्यक्त का साधन मिल रहा है पुरुष में और अव्यक्त का भी मिल रहा है फिर भी क्या कह रहा है कि भिन्न है तो पूरा पूरा नहीं एक सत्य स्वयं नास्ती एक नियम एक सत्य इसे यहाँ पर क्या आदमी बैठे हैं चार तो हमसे पूछ पूछा कि सर्वे छात्र आगता जो जो का सर्वे ना आगता निशे सीधे हो जाएगा होता कि नहीं बोलते एक सत्य द्वयनास्ती उसी प्रकार एक धर्म के रहने पर भी सभी नहीं है इसलिए क्या होगा ये भी जाती है यहाँ लिखने जा रहा स्वयं सदित आशंका अहेतु मतम नित्यत्वादि प्रधान साधर्म्यम अस्ति पुरुषस्य पुरुष में प्रधान का कुछ साधर्म है क्या साधर्म है अहेतुमत्व है और क्या साधर्म है नित्यत्व है और एवं अनेकत्व व्यक्त साधर्म्यम अपनी पुरुषस्य कथम उच्चते उच्च विपरीता तो फिर विपरीत कैसे होगा दोनों का जब उसमें साधर्म है प्रकृति वृत्ति साधर्म क्या है अहेतुमत्व नित्यत्व और व्यक्ति वृत्ति साधर्म क्या है अनेकत्व तो उनसे विपरीत कहाँ पुरुष हुआ सजातीय हो गया दोनों का तद विपरीता पुमान इत्यत आहा तथा च क्या वहाँ पंक्ति में लिखा है तद विपरीता तथा च पुमान इसलिए उन्होंने कहा तथा चा भी लगाया तद विपरीता माने यद्यपि उनके विपरीत भी है और तथा भी है कुछ तथा करके क्या बताना चाह रहा है कि वह मत्व है नित्य है और अनेक इतने अंश में क्या है तथा है क्या है तथा है और बाकी में क्या है विपरीत है इसीलिए ने कह दिया माने व्यक्त और अव्यक्त में यद किंचित साधर्म है और यदि किंचित वही धर्म है वही इसलिए तथा शब्द का अतः यद्यपि अहित मत्वादिकम साधर्म्यम तथापि अत्र त्रैगुण्याति विपरीत अस्तव मान यद्यप अहित मत्व का प्रकृति और पुरुष में साधर्म है नित्यत्व को लेकर के परंतु आगे क्या है वो अविवेकी विवेकी है इसको लेकर के क्या है वही धर्म इसलिए हमने क्या कह दिया वही धर्म पुरुष के बताए गए क्या बताए गए वही धर्म बताएगा अब आगे वाली कारिका आने वाली कौन सी चले कल कल तो बारह नंबर